श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवतिरात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अर्जुन उवाच सहस्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते शब्दयानितः एकां निष्ठातुका कृष्ण सत्त्वमाहोरतमः श्रीभगवानुवाच श्रीया भवति श्रद्धा देवीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य तथा भवति भारत तथामयोऽयम् पुरुषो यो यच्छब्दमेवत यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षान्तिराजत ते तामसा जना परार्थविहीनम् घोरम् तप्यन्ते एकपो जना

रस्याग्निभाग्रिरादृत्या आहारात्विकप्रिया तत्त्वं मरवणां जीवना तीक्ष्णवृक्षविहारिणा आहाराजसज्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदा यातयामङ्गतरसं पूतिवसं च यत् उच्छिष्टमविचामेधं अपराकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिरिष्टो ययुज्यते यज्ञमेवेति मनः समाधाय तथात्विकः अभिसन्धाय तु परम् सन्धातमपि शैवय युज्यते भरतः श्रेष्ठा संयज्ञम् देवद्विजवरूपाख्यम् पूजनम् शौचमाचरम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरमुच्यते अनुद्वेगपरम् वाक्यम् सत्यम् प्रियमिदम् जय भावसंतुर्भिरेकेतोमानसमुच्यते श्रद्धया परया सत्तम तपस्तत्रिविधम् नरैः अपराकाङ्क्षिभिर्युक्तैः यत् क्रियते क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा सत्तामसमुदारतम् दातव्यमिन्द्रियदानं दीयतेनुपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः जीवते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अवेशकाले रतानाम् अपात्रे च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्कामसमुदाहृतम् ॐ तत्प्रति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणाश्चेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सहसम् ब्रह्मवादिना प्रतिजनविनन्द्राय फलम् यज्ञतपस्या

असदित्यते वातानतस्तेमूय ॐ सप्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु पञ्चसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे नाम सप्तदशोऽध्यायः मानसम तप संक्षिपति मांग तप कहा गया अभी मानस तप संक्षेप कर कहते मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिचेत तपो मानस मानसमुच्यते

आत्मविनिग्रह आत्मविनिग्रह सर्व इंद्रिय को स्थिर रखना मनोनिगत आत्मविनिग्रह आत्मशब्द के लिए मन का रुकना भाव संशुद्धि भाव से संशुद्धि सम्यक शुद्धि स्वच्छता अंतगण शुद्धि इतना मानसम तप उच्यते भाष्य मन प्रसादो मनस प्रशांति स्वच्छतापादान मनस प्रसाद मन प्रसाद का तो मन स्वच्छ होना प्रशांति में वो गणति प्रशांत होने पर उसका फल स्वच्छ होना मन शांत हो जाए इंद्रिय मन अंतर इंद्रिय है उसका निग्रह शांत रहता है व्याकुलता नहीं तो शांत शांत होने पर स्वच्छ होता है मनुष्य स्वास्थ्यम अनाकुलता नैश्चित नैश्चिंतम इत्यादि मनुष्य स्वच्छ हो तो आकुलता नहीं आकुलता है स्वच्छ जल नहीं चांचल्य जो स्वच्छ हो जाता है शुद्ध हो जाता है चांचल्य नहीं निश्चय चिंता रहता शांत रहता है आगे सौम्यत्व यथ समनस्यम आउ सौम्यता तो समनस्यम सुमन सुष्टु मन सुमन सुष्टु मनो यसे सुमन तस्य भाव समनुष्य समनुष्य का अर्थ करते सर्वेभ्यो हित चित्तम अहिता चिंतनम च ये समनुष्य मन सुष्टु हो तो सबके लिए हित चिंतन किसके लिए अनिष्ट चिंता नहीं करता है जब मन व्यग्रता है तो पर अनिष्ट चिंतन करता है हित चिंता नहीं करता अन्य का सहाय नहीं होता है और सामान्य होने से सबके रहित चाहता है किसी का हित चिंता नहीं करे ये तुम आहो मुखादि प्रसाद कार्य अंतकरण से वृत्ति ये अंतकरण की वृत्ति मुखादि प्रसाद कार्य जिसका मुख प्रसन्न होता है से मुखादि प्रसाद प्रसाद कार्य यहाँ मुखादि प्रसाद कार्य वृत्ति का अंतकरण का परिणाम है वृत्ति तत्कथम गम्य थे मनोसम्यक समन से मुखादि प्रसाद मुख इंद्र प्रसन्न रहता है जब केवल अनिष्ट चिंतन करता है तो मुख में उसका प्रभाव आता है यदि किसका अनिष्ट चिंता नहीं करता सबके प्रति प्रेम है तो मुख प्रसन्न है तस्य स्वरूप माह उसका स्वरूप कहते समन से कहे अंतकरण की वृत्ति मौनम वाक संयमोपी मन संयम पूर्वक भवती थी कार्यन कारण उच्यते मन संयम न मौनम यहाँ मानस तप चल रहा है मौन का अर्थ तो वाक संयम वाक संयम कहे तो वांग में तप होना चाहिए मनो में तप कैसे होगा वाक संयम तो है मनो किन्तु मन संयम पूर्वक भवती मन का स्वयं होने पर जो मौन है वो मौन लेना है इसी कार्य न कार्य है वास्तव में उससे कारण मुचित उसका कारण है मन संयम तो मौन सदस्य वाक संयम तो उसका अर्थ है किन्तु मन संयम पूर्वक वाक संयम लेना है मौन मन संयम नहीं केवल मुख को बंद करके संकेत के द्वारा करके बहुत कुछ कहते दूसरे को परेशानी अपनी परेशानी व्यर्थ है और बहुत व्यवहार करते हो टाइम भी लिखना अंगूठी के द्वारा बनते रहना बहुत क्रोध भी करते हैं सब कुछ होता है केवल तो मुख बंद तो नहीं मन पूर्वक ही मौन है इसलिए मौन शब्द से उसका कार्य है तो मन स्वयं वाक उसका कारण है मन संयम तो कारण मुख्य मन संयम मौन तभी मानस तत्व में अंतर्भुत होता है ठीक है नु मौनम वांग नियमनम वाग में तपस्यंत्र होती मौन तो वांग नियमन वाघ को रखना नियमन करना तो वाघ में तप मंत्र हो तो जाएगा तत्कथम मानस तपसी थे मानस तप में मौन कैसे कहते ये शंका है तत्र वाच संयम से कार्य वाघ इंद्र का स्वामी है कार्य उसका कारण है मन संयम मन संयम पूर्वक तो वाघ संयम को मौन लेना ऐसे कार्य से कारण लेना मन संयम से कारण स्वाद मनोसंयोग का कारण कार्य कारण ग्रहणार्थ कार्य से कारण का ग्रहण करना कार्य है तो उसका कारण अवश्य रहेगा तो यहाँ कार्य ग्रहण करने से मन स्वयं अर्थ हो जाएगा तो मानस से तप से मौन मुक्तम इस अभिप्राय से मौन को मानस तप में रखा नहीं तो केवल वाक स्वयं कहे तो वांगमय तप में आ जाएगा मानस तप में अंतर्भूत करने का यह अभिप्राय है ये मौन मन संयम पूर्वक मौन करना है केवल मुख को बंद करना नहीं इसलिए कहा वाक संयमोपी मन संयम पूर्व यद मौन मुनि भावो मननम आत्मनो मनस्व निरत ये मौनम मुनि भाव मुनि भाव का मननम मुनिर भाव मौनम तो मुनि का भाव मुनि का धर्म क्या है मनन मनन करना है तो मौन का तो मनन करना ये अर्थ करेंगे तो ठीक है मनन श्रवण के पश्चात मौन मनन करता तो उसको मौन का और आत्मन विनिग्रह आत्मन विनिग्रह ना आत्मन का अर्थ मनस विनिग्रह निरोध निरोध है आत्म विनिग्रह भाष्य में आत्म विनिग्रह का अर्थ निरोध ठीक है नन एवं मौन से निग्रह से सहमत एकत्वात पौनरूप्यम यदि मौन का अर्थ करेंगे मन संयम और मनोनिग्रह आत्म विनिग्रह का अर्थ भी कर दिया मनो निरोध तो दोनों बराबर हो जाएगी मौन से तो मनोनिग्रह से आत्मनिग्रह का अर्थ कर दिया मन संयम मन संयम एक हो गया तो खुनवृत्ति संक्रमण से नित्या सर्वतः भाष्य में कहते हैं सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह वाघ विशेष मन संयम मौनमित विशेष है जो आत्मा जो निग्रह का अर्थ मनोनिग्रह क्या उसका अर्थ क्या सर्वतः सामान्य रूप आत्मा विनिग्रह मन का सामान्य निग्रह सब विशेष सब इंद्र के विशेष हटा करके मन को रखना ये हो गया मनोनिरोध और मौन शब्द से क्या है वाघ विशेष मन से संयम वाघ को विषय करने वाले मन को संयम करना मौन तो विशेष हो गया मौन हो गया वाघ विषय संयम को मौन और सर्व विषय स्वयं को मनोनिवेश करना इसे विशेष हो जाएगा और भाव संशुद्धि ही भाव से संशुद्धि ठीक है भाव से हृदय से संशुद्धि भाव हृदय बुद्धि की शुद्धि हृदय शब्द से बुद्धि रहना रागादि मल विकलता यदि व्यासक्ति बुद्धि की शुद्धि क्या राग दिशादि मल रहित होने से शुद्धि परे ही भाष्य में भाव संशुद्धि परेर व्यवहार काल अमायादित्व भाव संशुद्धि व्यवहार काल में अन्य के साथ व्यवहार करता तो मायावित्व का अभाव ये शुद्धि है यह शुद्ध नहीं तो मायावी का प्रकाशन करता है उसका अभाव ही भाव संशुद्धि तत्व मानस उच्चति मानस तत्व टीका है मानसम मनसा प्रधान निर्वृत्त इत्यर्थ केवल मन से नहीं होता है मन है प्रधान प्रधान मन से निवृत्ति होता मानस तत्व मनःप्रसादसौन्नत्यम् मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते त्रिविधस्य तपस्य आकांक्षा द्वारा निश्चित शारीर मानस वाङ्मय तप है यथासंभव सात्विकादि वो भी सात्विक राजस्थान से तीन तीन प्रकार हो जाएगी आकांक्षा के द्वारा कथन करते हैं यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तप ये तीन प्रकार तप कहे गए कायिक वाचिक मानस तप्तम नर ही सत्यादि भेदन मनुष्य ने जो किया गया तप करते हैं सत्यादि भेदन कथम त्रिविंद होती तो वह सत्य राग तमस भेदन तामस भेदन से तीन प्रकार होता है श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते परया सभ्या तप्तम तप त्रिविधम तप नर ही परया सभ्या तप्तम अत्यंत श्रद्धा से किया गया तब तीन प्रकार अफलाकांक्षी भी युक्त ही तप्तम सात्विकम परिचक्षित ये तीन प्रकार के है किंतु फलाकांक्षी रहित फल की इच्छा रहित होकर के जो अफलाकांक्षी भी युक्त ही समाहित होकर के जो तप किया जाता है उसको साक्षी के तत्व भगवत ठीक है मैंने भाष्य में श्रद्धया का आस्तिक बुद्धि श्रद्धा का आस्तिक बुद्धि भक्ति पूर्वक विश्वास दृढ़ विश्वास परया का प्रकृष्ट अत्यंत प्रकृष्ट आस्तिक बुद्धि से तत्व का तो अनुष्ठितम तप तत्प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकार तीन प्रकार है त्रिप्रकार का अर्थ त्रियधिष्ठान केवल अधिष्ठान नहीं त्रियधिष्ठान त्रीन अधिष्ठान त्रियधिष्ठान तीन नरे अनुष्ठात्र भी अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के द्वारा अफलाकांक्षी भी उसका अर्थ तो फलाकांक्षा रहित ही फल इच्छा रहित होकर युक्त ही का अर्थ तो समाहित ही यद सम तप तत्सात्विकम वो सात्विक है सत्य निर्मितम सत्य गुण से संपन्न होता है परिचर्चित जाते कहते कहते चित्त को खींचता है अधिष्ठान देहवांग मनोनिवर्तन निर्थ तीन अधिष्ठान है तीन कौन है देहवांग मन तीन ही अधिष्ठान देहवांग मन से निवृत्त त्रि अधिष्ठान त्रिप्रकार समाहित ही कहा युक्त ही कहा तो समाहित ही कहा समाहित का तो सिद्ध सिद्ध निर्विकार सिद्धि असिद्धि के लिए विकार रहते होकर के तप करते हैं तो सात्विक तप राजसम तपो निर्दिशते रजसा निर्वितम रजगुण से संपन्न होता है प्रधान रजगुण से संपन्न होगा मन से

राजसम सत्कार मान पूजार्थम दम्भेन क्रिय थे यह राजसम चलम प्रोक्तम अध्रुवम सत्कार साधुकार साधु साधु सब प्रशंसा करेंगे मान साधु अवश्य मान पूजार्थम सम्मान पूजा के लिए और दम्भेन धर्म थे का ख्यापन करने के लिए जो तप किया जाता है तभी व्यवहार होनी है कहा गया राजसम तथा और चलम और चलम है अस्थिर चलम का है तो कभी कभी फल होता है कभी नहीं होता है और अध्रुवम स्थिर नहीं भाष्य में सत्कार मान पूजा पूजार्थम सत्कार होता है तो साधुकार सत्कार का शब्द करण सत साधु साधुकार कैसे साधु एवं तपस्वी ब्राह्मण इसे वे मर्थम ये बड़े साधु ऐसे टीका में साधुकारम एवं स्फोरयती साधुकार कैसा स्पष्ट करते साधु रहे तपस्वी ब्राह्मण इस प्रकार हम्म, आगे भाष्य में मान पूजार्थम मानो माननम सम्मान करना कैसे प्रतिष्ठानाभिवादन आदि ये मान है वो प्रतिष्ठान उठे तो ये खड़े हो गए आए उनको सुनने में खड़े हो गए अभिवादन नमस्कार आदि ये मान तदर्थम मानार्थम और पूजा पाद प्रक्षालन अर्चना आश्रित ये पूजा मान हो गया उठकर खड़े होना नमस्कार करना पूजा है पाद प्रक्षालन पाद होना अर्चना आश्रित भोजन खिलाना हवा करना इत्यादि पूजा तदर्थम से तप सत्कार मान पूजार्थम सत्कार मान पूजा के और दम्भेन योग क्रियते टीका में दम्भ न चाहिए नास्तिक न केवल धर्मध्वजित नहीं चलता अन्य कोई प्रयोजन नहीं नास्तिक है श्रद्धा नहीं केवल धर्म धर्मध्वजित ख्यापन करने के लिए ये बड़े धार्मिक है इसको ख्यापन करने के लिए गंभ से जो किया जाता है तब यह प्रोक्तम प्रोक्त कथित कहा गया राजसम रजोगुण से निवृत्त होने से चलन का कादाचित का फल सेन अध्रुवम कादाचित का फल इसलिए अध्रुव साधा चित्त का फल क्या तभी है प्रोक्तम ठीक है अस्मिन एवं लोके प्रथम यही फल देने वाले आगे कुछ फल नहीं क्योंकि यही सम्मान लोग पूजा साधा चित्त का फलवत्तम अध्रुवम अनियतम अनिकांति के फल मिति यावत साधा चित्त के फल का अर्थ है वही अध्रुव है अनियतम अनिकांति के फलम तो अनिकांतिकम फलम ऐसे उसका फल अनेकांतिक व्यविचार कभी फल होता है कभी नहीं होता है क्योंकि यह लोग ने केवल सम्मान आदि के लिए करता है कभी होता है कभी नहीं होता है कभी लोग निंदा भी करते हैं चलम अध्रुव में चले विशेष का कहे अत्यल्प काल स्थायी फल है अध्रुव है फल जनकत्व में कोई निश्चय नहीं अनिश्चित है शनि का फलम चरम और अन्य फलम अध्रुव तामसम तप संघनाथ तामस तमगुण से निवृत्त तप का कथन करते मूलग्राहेणात्मनो यत मूलग्राहेणा

मूढ़ का ग्राह तो अत्यंत आग्रह अभिनय से कितने करके मूढ़ ग्राहेण आत्मनो पीड़या यह प्रपक्रिय वैसे अपने कर्तव्य भाव उठता है पीड़या सर्वादि कर्तव्य के सब करता है परत परस्पर साधनार्थम अथा पर को नाश करने के लिए विनाश करने के लिए सत्तः तामसम उदार्थम उसको तामस कहते हैं वास्तव में मूढ़ग्राह है न अविवेक निश्चय न ये मूढ़ग्राह अविवेक निश्चय मूढ़ अविवेक विवेक रहित तो उसका निश्चय और ज्ञान पूर्वक निश्चय करके किसी में आग्रह करे टीका में दिया मूढ़ो अत्यंत विवेकी अत्यंत अविवेकी मूढ़ तत्व ग्राहो नाम आग्रहो अभिनिवेश उसका ग्राह क्या है अभिनिवेश आग्रह किसमें आग्रह अभिनिवेश आग्रह यही हम करना है अत्यंत अभियोग पर यही करना है अविवेक निश्चय अविवेक निश्चय आत्मन आत्मन पीड़या पीड़ा आत्मन का तो स्वस्थ देहादि देहादि की पीड़ा से देह इंद्रियादि की पीड़ा कर दे करके कोई खड़ा खड़े भी रहेंगे बैठेंगे नहीं हाथ ऊपर उठा करके रखा है कष्ट दे करके जैसे कोई क्या ऊपर रखा रखते ऐसे हो जाता है तो ऐसे सीधा आगे नीचे भी नहीं कर सकता है सोते बैठते उठते एक हाथ ऊपर खड़ा ऐसे और कोई कोई बैठते नहीं सोते नहीं खड़े रहते तो मंदिर में कहीं देखे से रस लगा करके ऐसे दिन रात खड़े ही रहेंगे ऐसे करते हैं तो सत्य है आत्मा ने पी लिया सत्य और उसमें कोई परत से उत्साधनार्थम विनाशार्थम पर विनाश के लिए भी करते सब तामसम तो कर उदाहरण ये तामस सत्य है इधानी दान में उच्यते टीका में क्रम प्राप्त दान से गुण निमित्त भेदम आह अभी क्रम से प्राप्त हुआ दान गुण निमित्त भेदम गुण निमित्तम यस्य भेद वो गुण निमित्त भेद गुण के कारण भेद दान से भेद कथन करते दान भेद उच्यते दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं यदान दातव्यम इति अनुपकार में दियते दातव्यम शास्त्र में विधान है इसे दान करना चाहिए हमारा कर्तव्य इसी दृष्टि से दियते अनुपकार में नहीं की उनको ऐसा देंगे तो उससे हमको कुछ मिलेगा ये दान नहीं अनुपकार नहीं जैसे कोई उपकार की संभावना नहीं और कहाँ देना है देश काले पात्र देश में पुण्य क्षेत्र में और पुण्य काल ग्रहण आदि संक्रांति पूर्णिमा आदि काल है जैसे पुण्य क्षेत्र में और पात्र है पात्र के लिए से सरंगविद ब्राह्मणों में ब्राह्मण तो को दान देते ब्राह्मण में भी जो अधिक विद्वान ज्ञानी इसको दान कर अधिक फल होता है सब तो दानम सात्विकम स्मितम सात्विक होता है दातव्यम इतव मन कृत्वा यह दानम दिया थे ऐसा मन करके शास्त्र में विहित है ये मेरा कर्तव्य ऐसा निश्चय करे कुछ फल इच्छा नहीं करे ये दान दिए थे अनुपकार में प्रत्युपकार समर्था है जो अनुपकारी प्रत्युपकार के लिए असमर्थ अच्छा समर्थ हो कोई भी तभी उसकी अपेक्षा नहीं करेगी ये नहीं कि केवल असमर्थ होने पर ही दान करना चाहिए नहीं समर्थ कोई हो किंतु उसके प्रत्युपकार की इच्छा नहीं करेगी प्रत्युपकार समर्थ है समर्थाया निरपेक्ष कोई समर्थ है फिर उसके प्रकार की अपेक्षा नहीं करके दिए थे देशे पुण्य देशे कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थान है दान के लिए प्रशस्त काले संक्रांति आदि संक्रांति पूर्णिमा एकादशी आदि दान पुण्य समय पापते सड़ंग विद वेद पारही इत्यादि शिवंग को जानने वाले वेद के पार अधिक अधिक विद्वान में फल दान का फल अधिक होता है यहाँ फल इच्छा नहीं किंतु दान करना चाहिए उनको इत्यादि यद दान सात्विक निश्चित उसको सात्विक दान कहा गया ठीक है दातव्यम इतव मन कृत्वा दातव्यम ऐसे मन करके उसका दानम एवं मया भाव्यम न फलम इसका भी संग्रह दान ही करना है फल की इच्छा चिंतन नहीं करना है ऐसे भावना से दान करता है तो के दान है राजस्व राजस दान विभजन पुष्टार्थम राजस्व काम विभजन क्या तस्थ अर्थ इसका यु प्रत्युपकारार्थम यत्तुपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम शब्दानं राजसंस्मृतम् शब्दानं राजसंस्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टम शब्दानं राजसंस्मृतम् प्रत्युपकाराथम फलम व पुनः उद्देश्य उपकार के लिए प्रत्युपकार के लिए हम देते हैं तो उनसे कुछ उपकार मिलेगा अथवा फलम उद्देश्य इसी दान का फल मिलेगा दियते दियते से परिकृष्टम परिकृष्टम यथाचात त्वपूर्वक दान करते तब दानम राजसम स्मृतम तद राजसम उदाहरण में सभी पाठ कहेंगे तब दानम राजसम स्मृत राजस्म का भाष्य में यत्दानम प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार कैसे काले तो अयम माम प्रत्युपकर इतव कि समय ये मेरा उपकार करेगा प्रत्युपकार करेगा इसे अभिप्राय शिष्य देता है हो गया राजस्व फलम से दान से मैं भविष्य अदृष्टमित इसका अदृष्ट फल मिलेगा इसे अभिप्राय से दान करता है तब उद्देश्य पुनर्दीयते इसे परिकृष्ट देते हैं और परिकृष्ट क्षेत्र संहित उत्कृष्ट उत्कृष्ट पूर्वक क्रिया विशेषण परिकृष्टम परिकृष्टम यथा तथा तद श्रुत उसको राजस कहा गया पुनः

अदेश काले अपात्रिभ्य दीयते अदेश काले अपात्रिभ्य असत्कृतम अवज्ञातम दीयते तत्दान उदाहरण यह दानम अदेश काले पुण्य देश पुण्य काल नहीं अन्यत्र देते हैं पुण्य पात्र भी नहीं और अपात्र पात्र से भिन्न असत्कृतम अवज्ञातम असत्कार पूर्वक अवज्ञा करके देते हैं और तो तामस दान है अद्वैत काले भाष्य में अपुण्य देशे जो पुण्य काम नहीं म्लेच्छा अशुच्यादि संकीर्ण ये अपुण्य देश जहाँ म्लेच्छ अशुच्य अपवित्र आदि सब लोग ऐसे स्थान में दान नहीं पुण्य क्षेत्र में दान प्रसिद्ध है अकाले पुण्य हेतुत्व न अप्रख्यात पुण्य के हेतु के न ख्यात है संक्रांति आदि पुण्य आदि अच्छे समय ग्रहण आदि ये पुण्य काल है उसके भिन्न अन्य काल में संक्रांति आदि विशेष है कि अपात्र व्यक्त जो पात्र नहीं जाने के लिए मूर्ख तस्कर आदि मूर्ख है चोर है उनके लिए जो दिया जाता है वो दान नहीं तामस है देश आदि संपत्त होगा देश काल पात्र होने पर भी असत्यतम देश काल पात्र है किंतु सत्कार को नहीं दिया दान करने के लिए दान भी करना उसमें सत्कार सम्मान भी करना प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहित ये सत्कार है प्रिय वचन कथन करना पाद प्रक्षालन करना पूजा आदि करके दान दिया जाता है कोई दान देते है गो भूमि आदि दान उसके बाद तो दक्षिणा पूजा बुला करके पाद प्रक्षालन करके सम्मान करके बैठाएंगे भोजन आदि कराएंगे पूजा आदि कराएंगे फिर दान देंगे फिर दक्षिणा देंगे दान क्या भूदान क्या फिर उसके दक्षिणा दे करके दान होता है अवज्ञातम पात्र प्रभव युक्त पात्र की तिरस्कार करके देते हैं तो तिरस्कार कर देते थे हमें देवी देते हैं अंदर के होते चलो ये तो ब्राह्मण लोग ऐसे ही सब इकट्ठे करते हैं ये करते कुछ ना कहा कर कुछ ना कुछ करें ये दानन तो तापस में सो और तामस कहा गया है तो देश काल पात्र हो तो सत्कार करके ही अवज्ञा नहीं करके सम्मान पूर्वक दान करना होता है तो दीयते नाम तथामसमुदाहृतम् विहिता कर्मण वैगुण्य प्रथम परिहार है जो शास्त्र विहित कर्म है तो कर्म तो ठीक विधि के अनुसार ही करना चाहिए किंतु प्रमाद के कारण कभी कभी वैगुण्य हो जाता है जो गुण अंग इति कर्तव्यता पूरा नहीं होता है तो विगुण हो गया सांग पांग अनुष्ठान नहीं हुआ तो कैसे इसका परिहार होगा वो नहीं विहित कर्म तो शास्त्र विधि के अनुसार ही करना चाहिए वैभिन्न हो तो परिहार कैसे होगा इसे आशंका है यज्ञ दान तप प्रभृति नाम सादगुण्य करनाय अयम उपदेश उचित यज्ञ दान तप प्रभृति जितने कर्म है विहित शास्त्र विहित परमागति का भी विगुण हो जाता है उसको सात गुण करने के लिए आगे उपदेश ओम तत्सदित निर्देश ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मणास्तेन ओम सत सत इसे ब्रह्मण त्रिविधा निर्देश स्मृत ब्रह्म का तीन निर्देश निर्देश किया गया नाम नाम का निर्देश नाम उपदेश ओम सत सत ये ब्रह्म का तीन नाम है तेन इसे निर्देश के द्वारा ब्राह्मण वेदास्त यज्ञास्त पुरा विहिता प्रजापति के द्वारा ब्राह्मण जाति यज्ञ आदि करने वाले वेद और यज्ञ भी कर्म यज्ञ है वेद है विधि निषेधादि ये सब प्रजापति के द्वारा बनना निर्माण किए गए ओम सत्य इसी निर्देश के द्वारा प्रजापति के द्वारा ये ओम सत्य सत ऐसे निर्देश करने से कोई तो भी कर्म विगुण है तो सदगुण होगा परमात्मा का नाम चिंतन करने से ओम निर्देश निर्देशो इसको निर्देश कहा अने तो निर्देश त्रिविधो नाम निर्देश ब्रह्मण स्मृत का तो चिंतित वेदांत से ब्रह्म विधि निर्देश्य तो तो निर्देश जिसके द्वारा निर्देश किया जाता है कहा जाता है तीन प्रकार नाम का निर्देश ब्रह्म का परमात्मा का स्मृत का चिंतित चिंतन किया गया किसके द्वारा ब्रह्मविद भी ब्रह्मज्ञानी के द्वारा कहा वेदांत में टीका में कथम निर्देशन तेषा विधान निर्देश के द्वारा विधान कैसे तो निर्देश तो अन्य नहीं अनिर्णित निर्देश ये नाम निर्देश है ठीक है यज्ञादिना वैगुण्य प्रतीति काले यथोक्त नाम नाम अन्यतम उच्चारणार्थ अवैगुण्यम सिद्धति भाव यज्ञ दान तपादि विहित कर्म वैगुण्य प्रतीति कहीं प्रतीत है वैगुण्य है संभावना है यथोत नाम नाम अन्यतम उच्चारणार्थ ये नाम है ओम तत् सत ये नाम है उसमें से कोई एक उच्चारण करने पर भी अवैगुण्यम थी अवैगुण्य वैगुण्य नहीं सदगुण हो जाएगा सिद्ध थी इसी अभिप्राय कर्म सातगुण्य कारणम त्रिविधम नाम स्तौती कर्म में सदगुण्य का कारण हो गया तीन प्रकार नाम है परमात्मा का जिसके उच्चारण से कर्म सदगुण हो जाता है विघुण भी सदगुण हो जाता है इस नाम की स्तुति करते हैं भगवान ब्राह्मणास्तेन वेदास्त यज्ञ से विहिता पुरा कह करके पूरा मतलब पूर्व पूर्व मतलब स्वर्ग के स्थिति के आदि काल में ब्राह्मण तेन निर्देशन त्रिविधेन तीन प्रकार नाम निर्देश उच्चारण के द्वारा ब्राह्मण यज्ञ कराने वाले याजक वेद है साधन यज्ञ ही कर्म ये सब विहितागत निर्मित निर्मित पुराण कर पूर्वम इसे निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते निर्देश नाम के निर्देश ओम तत्त नाम की स्थिति के लिए कहते ऐसे उनके इस नाम के द्वारा प्रजापति ने पहले बनाया पूर्वम विहितागत निर्मिता निर्माण से प्रजापति कर्तृकम प्रजापति ने बनाया प्रजापति कर्ता प्रजापति कर्तृकम ब्राह्मण आदि हो गए कर्ता वेद है कर्म यज्ञ है कर्म कर्ता कर्म कर्म इसमें मधुसूदन टीका ने कहा ब्राह्मण आय की त्रैवल्य के उपलक्षण यज्ञ दान तक करने वाले कर्ता है केवल ब्राह्मण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वेद है कर्ण साधन यज्ञ है कर्म ये सब

वेद यज्ञ इनका कारण क्योंकि इनकी शक्ति प्रजापति ने की थी ओम तत्व उच्चारण करके इसलिए उनका कारण है ब्राह्मणों ब्रह्मण निर्देश और ब्रह्म का नाम नहीं है तस्मा इसलिए उपसार करते हैं

ब्रह्मवादी नाम विधानोक्ता यज्ञदान तपक्रिया ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते सततम प्रवर्तन्ते ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म वदंती तेषा शील ब्रह्म वदनशीला नाम ब्रह्म ही कथन करने वाले ब्रह्म को ही समय निश्चय करने वाले उनके ये यज्ञ दान तपादि क्रिया है विधान से विधि के द्वारा कहे गए ओम इस उदाहरण से सततम प्रवर्तन थे ओम इस उच्चारण करके भी होते हैं कि उसके द्वारा सदगुण हो जाते हैं तस्माद ओम इस उदाहरित उदाहरित का अर्थ उच्चार्य उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया आदि स्वरूप क्रिया जो विधि के द्वारा विधान थे विधान प्रवर्तनते विधान विधानोक्ता तो शास्त्र के दिशा शास्त्र का सततम का संयम सर्वदा ब्रह्मवादिना का तो ब्रह्मवदन सीलाना ब्रह्मवादी नाम इतर ब्रह्म वेद क्योंकि जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया उनकी क्रिया ऐसा नहीं ब्रह्म वेद वेदवादी नाम ब्रह्म का तो वेद भी अतः वैदिक जो वैदिक कर्म करने वाले वैदिक वेद प्रमाण को जानने वाले वेद अभिज्ञ उनकी विधि प्रयुक्त कर्म यज्ञ दान तपादि ओम इस उच्चारण पूर्वक प्रवृत्त होते हैं क्योंकि ओम यह शब्द द्विगुण होने पर कर्म को सदगुण करने वाले परमात्मा का नाम है पहले ओम को कथन कथन किया आगे तत्व कहेंगे तत्व भी कहेंगे तो ओम शब्द से विनियोग उत्तर तत्शब्द से विनियोग

तदित्यनभिसन्धाय फलम अनभिसंधाय फल की इच्छा नहीं करके यज्ञ प्रक्रिया दान क्रिया से विविधा मुख्य कांक्षी भी ही क्रियंते तद ऐसे इच्छा करके फलम अनभिसंधाय फल इच्छा नहीं करके मोक्षकांक्षी भी मुमुक्षों के द्वारा यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रिया ये की जाती तदिति तो भाष्य में अनभिसंध्याय अनभिसंध्याय फल के साथ फलम अनभिसंध्याय फल की इच्छा नहीं करेगी तदिति तो ब्रह्माभिधान उचार्य तद तो ब्रह्म का अभिधान अभिधेय अन्य नहीं तो अभिधान ब्रह्म का नाम है तद ओम सत सत तीन नाम है पहले ओम का कथन करके अभी तत् का तत् इसे उच्चारण करके अनुसंधा है कर्म न फलम कर्म के फल की इच्छा नहीं करके यज्ञ तप क्रिया यज्ञ क्रिया तप क्रिया यज्ञ और तप क्रिया यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा विविध दान क्रिया भी क्षत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण ये दान के क्षेत्र दान भूदान हिरण्य सुवर्ण दान वेदान अभिलक्षण क्रिया क्रियंते एक क्रिया की जाती है निर्वर्त्यंत संपाद्यंत कांक्षी भी मोक्ष चाहने वाले मोक्षार्थी भी मुमुक्ष भी गृहस्थाश्रम में रह करके ये सब दान करते हैं यज्ञ करते हैं मोक्ष के लिए सर्वापेक्षा के यज्ञ स्थिति रसोत ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया गया तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विधि संति यज्ञ न दान न तपसा यज्ञ दान तपस ये वेदन का साधन है ज्ञान का साधन है इसलिए जो मोक्ष चाहते गृहस्थ में रहकर यज्ञ दान तप किया करते और उसमें वैगुण्य होने पर स्वदेश ब्रह्म का नाम उच्चारण करके करते हैं उससे सदगुण हो जाता है तो वृत्तम अनिद्या अनंतर श्लोक तात्पर्य माह अतिशय के अनुवाद करके आगे श्लोक का तात्पर्य कहते हैं एवं शब्द और विनियोग उक्त ओम सत सत तीन नाम से एक तो ओम और एक सत दो शब्द का विनियोग कहा गया अतः इधानी सत शब्द से विनियोग कहते सत शब्द का विनियोग कहते हैं सद्भाव सद्भावे साधुभावे सद्भावे साधुभावे सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सद्भावे साधुभाव से सद इत प्रयुज्यते सद इसे नाम प्रयुज्यते मतलब उच्चारे से उच्चारण करते प्रसत्य कर्म नहीं तथा प्रसत्य कर्म सशब्द युज्यते उच्चारण किया जाते हैं भाष्य में सद्भावे प्रतीक है सद्भावे असत सद्भावे आठ टीका में असत सद्भावे उसके पहले सद्भावे इसे सही पाठ है सद्भावे उसका अर्थ असत सद्भाव यथा अविद्यमान से पुत्र से जन्म यह असत सद्भाव नहीं यथा अविद्यमान से पुत्र से जन्म पहले पुत्र विद्यमान नहीं था उसका जन्म हुआ यह असत सद्भाव हुआ तथा साधुभाव असदवृत्त से असाधु सदवृत्त का साधुभाव पहले असदवृत्त असदाचरण करता असाधु अभी सदवृत्तता सदाचार करता है तो साधुभाव हुआ तस्मिन साधुभावित असत सद्भावे और असाधु हो साधुभाव तो असत सद्भाव हो गया अभिद्यमान पुत्र का जन्म हुआ और असदवृत्त पहले असद आचरण करता था अभी साधु आचरण करता है साधुभाव हुआ सद एक अभिधान ब्रह्मण प्रयुजते सत यह नाम ब्रह्म का इसका उच्चारण किया जाता है तत्र उच्चते अभिजीयते उच्चारण किया जाता है प्रसत्त कर्मणि प्रसत्त कर्म क्या है विवाह दो विवाहादो विवाहादो हसटी का विवाह आदि कर्म है शुभ कर्म में तथा सत्शब्द पार्थ युज्य सत्शब्द युजते का प्रयुज्य थे उच्चारण किया जाते हैं सत्शब्द का उच्चारण विनियो को बता दिया तो सद्भावे साधुभावे सप्रयुज्यते

नमो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासु त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मा